हमने कहा तुम सब यहाँ से उतर जाओ फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास वाकई कोई हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा तो उनके लिए ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे